Oh. भुनक्तु सा नो भुनक्तु सा वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं मेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरम् जङ्गमम् व्याप्तम् यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्म श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापय सर्वम् त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे विराजित सर्वश्रुतिशिरोरत्न वेदान्ताम्बुजसूर्योया तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्या शाश्वताशान्त व्योमातीतो निरञ्जना कलातीत तस्म श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषिता भोक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणम् भवसिन्धोस्य ज्ञापनम् सारसम्पदा गुरोपादोदकम् सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकम् तत्त्वम् न गुरोरधिकम् तपः तत्व परम् तस्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथा श्रीजगन्नाथ मद्गु श्रीजगद्गु मदात्मा तस्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिश गुरु परम दैवतम् गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माताश पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोस्मृषा त्वमेव वेश्या द्रविणम् त्वमेव मम देव देव त्वमेव सर्वम् मम देव देव यन्मायावशिवर्ति ब्रह्मादिदेवासुरा यत् भाति सकलम् रज्जौ यथा हि भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहम् तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशम् हरिम् रामाख्यमीशम् हरिम् मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल विमलयश जोदायक फल चारु सियावर रामचंद्र की जय मन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय पहले दोहे के बाद देखत हनुमान अति हर्षो पुलक गात लोचन जल बरसो मन मह बहुत भांत सुख मानी बोले श्रवण सुधा समी जासु विरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता

सुनत बचन बिसरे सब दुखा प्रशावंत जिम पाय पियूखा को तुम तात कहाँ ते आए

दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेंट उठ सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्रवत जल पुलकित गाता कवि तब दरस सकल दुख गीते मिले आज मुही राम पीरीते बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देहू का सुनु भ्राता यही संदेश सरस जग माही कर विचार देख्यूं कछु नाही नाहिन तात उरिन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुना बहु मोही तब हनुमंत नाई पद माथा

निज दास ज्यो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो सुनि भरत बचन विनीत यति कपि पुलक तन चरण पर्यो रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कातयग जगन्नाथ जो निज मुख जासु गुण जो काहे न हो ही विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो काहे न हो ही विनीत परम पुनीत राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुन पुन मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समात भगत चरण सिरुनाई तुरत गय कपि राम पही कही कुशल सब जाए हर्ष चल्यो प्रभु जान चढ़ी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पवन सब संतन की जय अब स्मरण करें कि ये अयोध्या अयोध्या के पास नंदीग्राम वहाँ पर भरत जी तपस्वी भेष में है हनुमान जी आए तो उन्होंने भरत जी को देखा कि कुशासन पर बैठे शरीर का क्षीण हो गया है जटाएं धारण किए हुए तपस्वी वेश में बैठे हुए भगवान राम का नाम निरंतर जपते रहते हैं ये देख करके हनुमान जी के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई अब देखिए यहाँ पर दो भक्तों का मिलन है जैसे हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं निष्प्रिय निष्काम माने किसी प्रकार की कोई कामना नहीं भगवान की भक्ति और प्रेम में मग्न है ऐसे ही भरत जी भगवान के परम भक्त हैं प्रेम स्वरूप हैं अब ये दोनों का मिलन होता है तो इनका मिलन कैसे है व्यवहार इनका कैसे है वो ड्रेमेटाइज कर दिया दो तो व्यक्तियों के द्वारा दिखा दिया कि देखो हम तो लोग मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं उनकी बात किस प्रकार से होती है व्यवहार उनका कैसे होता है <clears throat> तो देखत हनुमान अत हर्ष तो हनुमान ऐसा देख करके बड़े प्रसन्न हुए हनुमान माने भक्त जब भक्त को देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है वाह कैसा भक्त जैसा <clears throat> जो आदर्श एक व्यक्ति के मन में है भक्ति का वही आदर्श मान दूसरा व्यक्ति जब दिखाई दिया तो उसे अपनी स्वभाव अपनी प्रकृति अपने आदर्श के अनुकूल व्यक्ति दिखाई दिया तो देख करके प्रसन्न हो गया <clears throat> तो भरत हनुमान जी इसलिए प्रसन्न हो गए कि देखो भरत जी कैसे भगवान के भक्त हैं कैसे उनको समर्पण भाव सह देख करके बहुत प्रसन्न हुए पुलक गात लोचन जल पर से उनके हृदय में भी भक्ति जागृत हो गई जैसे भरत जी के हृदय में भक्ति है वही उसी हनुमान जी के मन में तो है ही भक्त तो है ही है लेकिन भक्ति का उद्वेग उत्पन्न हुआ तो वैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु आने लगे शरीर रोमांचित हो गया गदगद हो गए <clears throat> ये लक्षण जो दिखा दिए कि प्रसन्नता के लक्षण है गात ये उनके अत्यंत हर्षित होने का लक्षण है लोचन जल वर्षेव ये भी उनके हर्षित होने का लक्षण है <clears throat> तो मन मह बहुत भांत सुखमानी और फिर हनुमान जी ने अपने मन में बहुत प्रकार से सुख माना <clears throat> बहुत प्रकार से सुख माना के माने ये है भरत जी से मिलकर की प्रसन्नता हुई भरत की भक्ति देख करके भी प्रसन्नता हुई और भक्ति भरत जी जो है वो हो तपस्वी वेश बनाए बैठे हुए हैं जैसे भगवान पन में तपस्वी वेश है वैसे भरत जी बनाए हुए हैं वो देख करके उनके मन में प्रसन्नता हुई ये भी प्रसन्नता हुई कि देखो भरत जी यहाँ अयोध्या को शासन व्यवस्था जो जरूर चलाते हैं लेकिन अयोध्या के राजमहल के सुखों से दूर तपस्वी की तरह से रहते हैं ये भी सब सोच सोच करके सभी बातों सोच करके उनको सभी बातें उनको हर्षित कर रहे हैं प्रसन्न कर रहे हैं तो बोले वो श्रवण सुधा समय बानी तो फिर हनुमान जी जो है फिर उसी समय यद्य भरत जी अपने राम नाम जपने में लगे हुए हैं लेकिन हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं और फिर उनसे बोलते हैं बोलते कैसे हैं गोलिव श्रवण कानों में सुधा संभाली कानों में अमृत के समान प्रिय लगने वाली वाणी बोली तब ये भी है कि भक्त लोगों की वाणियों में प्रियता होती है मधुरता होती है वो लक्षण दिखा दिया कि जैसे तो हनुमान जी भी हैं वो भक्त हैं तो उनकी वाणी में प्रियता आ गई भरत जी भी देखें आगे बोलेंगे तो इसी प्रकार से उनके मन में भी वाणी में प्रियता है दीनता है विनम्रता है ये सब गुण जो उनमें है उनके साथ देखो सब प्रकट होते हैं <clears throat> अब ये सूचना है तीन पंक्तियों में हनुमान जी उनको ये बता देते हैं भगवान के आगमन की सूचना दे देते हैं कहते हैं कि से विरह सोचो दिन राती कि जिसके की विरह में तुम जिंदा सोचते रहते हो रटर निरंतर गुनगुन पाती और इन भगवान की जिंदा तुम उनके गुणों की स्मरण किया करते हो रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता जो रघुकुल के तिलक हैं और <clears throat> भक्तों को सुख देने वाले हैं आयु कुशल देव मुनित्राता <clears throat> मुनियों के और देवताओं के भी रक्षक भगवान जो है वो सकुशल आ गए हैं रिपुरण जीती शत्रु को रण में जीत करके सुजस स्वर्ग आवत देवता लोग उनका यश करते हैं सीता सहित अनुज प्रभु आवत भगवान श्री राम ही नहीं उनके साथ में लक्ष्मण जी सीता जी वो सब आ गए ये समाचार है समाचार में एक के बाद एक बात भरत जी हनुमान जी की बात सुनने लगे और जैसे वो धैर्य पूर्वक सुनते गए वैसे वैसे हनुमान जी ये सब समाचार जो भगवान ने कहे थे वो सब इनको भरत जी को सुना दिए अब ये इसमें जो है देखिए भरत जी जिनका की स्मरण करते हैं कि मैंने भगवान राम कही तो भगवान राम का नाम न लेकर के ऐसे कहते हैं कि आप जिनका के निरंतर ध्यान करते रहे तो, तो आ गए तो जा से विरह सोच दिन राती जिनके विरह में तुम दिन रात सोच के माने दुख दुखी हुआ करते हो सोच माने सोचना विचार नहीं मात्र नहीं है सोच के माने है दुखी होना <clears throat> जैसे गीता में शब्द का प्रयोग माँ सुच सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज आम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयश्यामी माँ सोचा माँ सोचा कि सोच मत करो तो वहां सोच कर मत करो तो मन दुख मत करो <clears throat> सोच के माने शोक है तो जास विरह सोच हो तुम जिनके विरह में दिन रात दुखी हुआ करते हो प्रकट तो निरंतर गुणगन पाती और जिंदा जिनके गुणगान का गान किया करते हो गुणगन पाती मैंने भगवान के गुणों की पंक्ति के मैंने एक के बाद एक गुण एक के बाद एक गुण इन्हीं के बराबर स्मरण किया करते हो इससे ये तो खैर हनुमान जी भगवान हनुमान जी को भरत जी को संदेश दे रहे हैं लेकिन वैसे अन्य भक्तों को साधकों के लिए ये है कि भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है <coughs> स्मरण ऐसे किया जाता है कि भगवान का निरंतर स्मरण किया जाता है और उनके गुणों का स्मरण किया जाता है रटव निरंतर रटते रहते हैं वो कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है अनंत है अगाध है कृपा निधान है दया निधान है प्रेम स्वरूप है <clears throat> उदार है करुणा निधान है ऐसे भगवान के गुण जो है वो बार बार उनका बार बार बार बार बार बार उनके गुणों का भी स्मरण करें <clears throat> भगवान के लिए कहीं कोई शत्रु मित्र नहीं सबके साथ समान रूप से प्रेम है <clears throat> भगवान बहुत ही उदार है जिन लोगों के मन में नाना प्रकार के विकार हैं उनको भी दूर कर देने वाले हैं शांत प्रदान करने वाले हैं ये भगवान के गुणों कुछ प्रकार बहुत से गुण जितने की रामचरित मानस में तमाम जगह जगह उनके आते रहते हैं उन सबका भगवान शील निधान है शोभा निधान है आनंद निधान है प्रेम स्वरूप है ये सब उनका जो है वो बार बार उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए भगवान के स्मरण के माने भगवान के गुणों का स्मरण भगवान का तो स्मरण करो गुण एक नहीं याद आवे तो भगवान का क्या याद आया हम्म? भगवान के गुणों का स्मरण ही भगवान का गुण ये स्मरण है हाँ? भगवान आनंद स्वरूप है तो आनंद का स्मरण करो तो भगवान का स्मरण आए भगवान ज्ञान स्वरूप है ज्ञान का स्मरण करो तब भगवान का स्मरण ये देखो इस प्रकार से जो वो <clears throat> ये बराबर संकेत है इस प्रकार से कि भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है <clears throat> अब आगे बताते हैं कि भगवान के गुण कौन कौन से रघुकुल तिलक रघुवंश में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान राम समस्त रघुवंश में एक से एक महान प्रतापी राजा हुए उनमें भी सबसे श्रेष्ठ महान सुजन सुखदाता भक्तों को सुख देने वाले भगवान आनंद स्वरूप हैं और जो भक्त भगवान की शरण में आते हैं उन पर निर्भर रहते हैं उनको भगवान आनंद प्रदान करते हैं ये भगवान का गुण है इस प्रकार जो भगवान की शरण शरणापन्न है उनका हृदय आनंद से गदगद हो जाता है आनंदित हो जाते हैं अब इससे ये भी मालूम होता है कि जिसके पास जो होता है सो देता है जिसके पास आनंद है वही आनंद देगा और जिसके हृदय में दुख भरा हुआ है वो जब किसी व्यक्ति से मिलेगा तो क्या होगा वो अपना दुख ही का उद्गार करेगा दुख ही सुनाएगा यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण भरा हुआ है तो वही गुण ही प्रदान करेगा जिसी में दुर्गुण भरा हुआ है तो अपना दुर्गुण ही बांटेगा जिसके पास जो होता है वही उसका वितरण करता है वही सब प्रकट भी होता है तो भगवान आनंद स्वरूप है इसलिए भगवान का स्मरण करोगे तो आनंद ही प्राप्त होगा भगवान को पास दुख का स्पर्श भी नहीं होता निर्विकार है भगवान असंग है निर्लेप है तो उनमें कोई विकार कोई दुख उनको स्पर्श नहीं करता तो केवल आनंद ही आनंद है तो भगवान देंगे तो क्या देंगे आनंद ही देंगे कोई कहे भगवान दुख भी देता है तो दुख कहां से देगा जब भगवान है ही नहीं दुख स्वरूप ही नहीं उनका है दुख का कोई लक्षण ही नहीं तो भगवान दुख कैसे देगा अगर पूछो तो दुख कहां से आया जब भगवान नहीं देता तो कौन देता है दुख देता है व्यक्ति अपने उसके जो पूर्व कर्म किए हैं पाप कर्म हुए दुख देते हैं तो ये विवेक रखो दुख कौन दे रहा है सुख कौन दे रहा है हर बात भगवान से न जोड़ दो तो भगवान दुख ही देता है <clears throat> इसलिए कहते हैं ये ये सुजन सुखदाता भक्तों को सुखदान देने वाले भगवान आयु कुशल देव मुनित्राता और भगवान जो वो देवों को विप्रों को मुनियों को इनको सबको सुख देने वाले हैं पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं <clears throat> वो विप्र इन सबकी रक्षा करने वाले हैं ऐसे भगवान है ये भगवान के गुण हैं तो ऐसे भगवान जो आयु कुशल वो भगवान सकुशल आ गए ये समाचार हो गया संदेश हो गया अब ये कह रहे हैं आ गए तो ये भी बताते हैं वहां तक की बात तो भरत जी को मालूम थी कि लंका में युद्ध हो रहा है हनुमान जी जब आए संजीवनी लेकर के जा रहे थे तो भरत जी से उनकी भेंट हुई थी भरत जी ने उनको बाढ़ मार करके गिरा दिया अयोध्या के पास <coughs> तो वहाँ हनुमान जी सारी समाचार सूचना बता गए थे कि रावण से भगवान राम का युद्ध हो रहा है लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है हमें शीघ्र शीघ्र वहाँ पहुँचना है वहां तक की कथा मालूम थी उसके बाद का संदेश भरत जी को प्राप्त नहीं किया है तो सब अब हनुमान जी बता देते हैं उसके बाद युद्ध पूरा हो गया रावण मारा गया समय निशाचर मारे गए युद्ध में विजय प्राप्त हो गई सीताकरण हो गया तो सीता जी वापस आ गई और उन सबको सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी को लेकर के और सभी निकर समूह इत्यादि को लेकर के उनको सबको जो उनके सखा है सबको पुष्पक विमान पर लेकर के संगवेपुर तक भगवान आ गए हैं तो वहां तक की कथा हनुमान जी ने उनको सुना दी तो कहते रिपुरन जी तो सुजस स्वर्गावत जब निशाक्षर मारे गए तो देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी आए शंकर जी आए इंद्र आए इन सबने आकर के भगवान की स्तुतियां की जो देवता लोग उनकी भगवान की जयकार बोल रहे हैं ऐसे भगवान जो है अब वो आ गए हैं सीता सहित अनुज प्रभु आवत तो भगवान भी आ रहे हैं साथ में सीता जी भी हैं अनुज लक्ष्मण जी भी हैं और सभी सकुशल हैं ये सब <clears throat> आ गए हैं और संगवीरपुर में है वहां पर है अब यहाँ पर आने वाले हैं शीघ्र ही तो ये समाचार हो गया अब इसके समाचार सुनकर के भरत जी के ऊपर क्या हुआ शरद भरत जी एक हड़बड़ा गए सुन करके वो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि भगवान कबा में कबा में क्या हो उनका चिंता में थे ही तो समाचार आ गया हनुमान जी ने सुना दिया तो सुनकर के एकदम से भरत जी के क्या प्रतिक्रिया होती है सुनत वचन बिसरे सब दूखा पहले तो हृदय निशान शांत हुई उनके सारे दुख मिट गए जो भगवान के ग्रह में दुखी हो रहे थे वो दुख समाप्त हो गया और ऐसे सुखी हो गए तशावंत जिम पाए पीऊा जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जो है वो हो उसको अमृत ही मिल जाए प्यासा व्यक्ति तो अमृत नहीं चाहता प्यासा व्यक्ति तो ये चाहता है कैसे सिंपल पानी मिले और पानी मिले तो प्यास बुझे उसी से जीवन अच्छा है और कदाचित तो पानी के स्थान में अमृत मिल जाए उसको तब तो फिर कह रहे क्या तो प्यास की प्यास बुझ गई है और अमृतत्व तो भी प्राप्त हो गया तो मैंने जितनी आशा थी उससे भी ज्यादा मिल जाए ऐसी सूचना ये कहते हैं त्रषावंत जिम पाए पीयूषा जैसे प्यासा जब वो हो उसे अमृत मिल जाए ऐसे प्रसन्न भरत जी हो गए उनका सारा दुख मिट गया को तुम तात कहाँ से आए और कहते हैं कि हे तात तुम कहाँ से आए अब उनका परिचय पूछते हैं वैसे त्रषावंत जिम पाए पीयूषा में जीव के लिए भी संदेश है कि जीव जो वो हो <coughs> जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करता तब तक वो सदा प्यासा ही रहता है बालकांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बारन मानस धोए ते कायर कर काल बिगोए जिन लोगों ने श्रामचरित मानस में अपना स्नान स्नान करके मन को शुद्ध नहीं किया स्वच्छ निर्मल नहीं किया बस समझो कि कलयुग ने उनको ठग लिया है मन में यदि काम क्रोध आदि विकार बने हुए हैं षट विकारों से युक्त मन है राग द्वेश आदि भरे हुए हैं तो इसके माने है वो उसने रामचरित मानस के सरोवर में डुबकी लगा करके अपने मन बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है तो ऐसे लोगों को क्या होगा प्रसिद्ध निरख रविकर भवबारी फिर यही मृग जिम जीव दुखारी कहते हैं जैसे कि प्यासा मृग हो और मृग मरीचिका देख करके रेगिस्तान का पानी देख करके और वो हो प्यासा दौड़ता रहे और उसकी कभी तृप्ति न हो ऐसे ही ये जीव भी बिना परमात्मा को प्राप्त किए बिना अपने मानसिक विकार दूर किए प्यासा ही मरता रहेगा त्रसित निरख रवि कर भवबारी भवबारी की <clears throat> जगत रूपी मृग मरीचिका संसार रूपी मृग मरीचिका देख करके <clears throat> उसी को समझेगा सुखदायी है और उसी की साथ दौड़ता रहेगा और फिर यही मृगजिम मृग मन पशु पशुओं की तरह से करते रहेंगे फिर यही मृगजन जीव दुखारी जीव दुखी हुए ऐसे भटकते रहेंगे तो अभी ये तो उनकी ये प्रसाद जीव की कम मिटे जब परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्त हो जीव की प्यास बुझी और उसके साथ साथ जो वो अमृतत्व भी प्राप्त होगा जैसे ये <clears throat> ये प्राप्त हो गया पीयूषा अमृत प्राप्त हो गया मैंने जीव पर अमर हो गया आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होकर के मुक्त भी हो गया उसकी अमरता भी प्राप्त हो गई <clears throat> को तुम तात कहाँ के आए अब ये पूछते हैं कि आपने इतने सुंदर जो ये है <clears throat> ये संदेश दिया तो आप कौन हो और कहा से आए हो मोही ही परम प्रिय वचन सुनाए तुमने तो वही बात सुना दी जो हम चाहते थे <clears throat> वो जो तुमने संदेश दिया ये बड़ा ही प्रिय संदेश है बस यही संदेश जो है इससे अधिक कोई प्रिय वस्तु मुझे नहीं थी वो तुमने आकर के बता दिया आकर के तो पहले ये बताओ तुम हो कौन और कहाँ से आए हो परिचय जानना चाह अब ऐसे तो विप्र रूप में हनुमान जी थे और ये संदेश विप्र रूप में ही उनको दिया लेकिन जब परिचय पूछने लगे तब हनुमान जी ने अपना परिचय बता दिया उनको <clears throat> मारुत तो सुत में कपि हनुमान तब हनुमान जी ने बता दिया हम तो हनुमान है कपि है तुम देख रहे हो कि हम विप्र रूप में है तो ऐसा नहीं है हम बानर है हनुमान हमारा नाम है पिता का नाम मारुत <clears throat> अपने पिता के नाम सहित अपना परिचय दे दिया तो प्राचीन काल में ये प्रश्न इसी प्रकार से पद्धति थी कि जब कहीं कोई व्यक्ति मिलता था किसी से तो अपना परिचय देता था तो अपना परिचय के साथ में अपने पिता का नाम भी बता पिता का नाम और अपना नाम स्थान ये बता करके परिचय देते रहे